New life, no loss, king. जो तूने मुझे प्यार न करा कोई नहीं तेरा नया यार भी बना कोई नहीं अकेला था अकेला रहा कोई नहीं आज जो मैं स्टार बना मैं लैंदा शिका दे नाड़ पंगा ते तेथों ज्यादा दुश्मना दा साथ चंगा ते तेथों ज्यादा मेरे नाल लॉयल रवे दिल में जहर भरा मुंह पे मेहरबानी क्यों जो है तू नहीं वही बन के दिखाने क्यों इतनी जल्दी जाना ताली भी नहीं बजी जितनी जल्दी चार चिल्लर बजे बिक गई जवानी यूं मेरे फासले भी जमाने से कम नहीं है और तू भी कह गई मुझे बोलने का ढंग नहीं है था कसूर मेरा इतना मैं झुका नहीं वो होती सेल्फ रिस्पेक्ट जाना वो घमंड नहीं है मुझे प्यार न करा कोई नहीं तेरा नया यार भी बना कोई नहीं अकेला ਥਾ अकेला ਰਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਤੇਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚੰਗਾ ਤੇਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਇਲ ਰਵੇ ਮੈਂ ਡੈਵਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾ ਦੰਦਾ मैं दिल देखू तुम क्यों लंबी कार देखो मुंह उठा के जरा गलियों के बाहर देखो तुम गलत नीचो फिर एक राज कहो कामयाबी से पहले क्यों काबिलों की हार देखो जो दिखे मुझे दुख के वक्त नहीं अब बोले मुझे जताता क्यों हक नहीं वो एक एक बंदा धोखेबाज मुझे सब पे यकीन मुझे किसी पे भी शक नहीं मैं बातें रख लूं बिना कुछ कहते हुए जिन लोगों की इस साल करियर जो खत्म मैं फिक्र करता हूँ ऐसे लोगों की मुझे ऐसे बंदे भार ना मिले दुआ करो हम भाई चार ना मिले तोड़ने चले थे परिवार उनकी छाती भर दी पीतल से कोई ऐसा अखबार ना मिले रहा आशिका दे नाड़ पंगा थो तो ज्यादा दुश्मना दा साथ चंगा ज्यादा मेरे नाल लॉयल रवे मैं डेविला दे नाल बैठे करा दंदा असली मर्द नहीं जो चढ़ता हो कंधों पे असली नजरे ना मिले ऐसे अंधो पे मेरे लफ्जों की कीमत बहुत राजा लिखे जस बात राजा लिखता नहीं बंदो पे I'm a fucking rock star and I don't need to prove it. Cross ये भी हिट मारा होगी ब्रेकिंग न्यूज़